दर हकीकत अल्लाह ताला तुम्हें सिर्फ उनसे मना करता है जिन्होंने दीन के बारे में तुमसे जंग की और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है और तुम्हारे निकालने में एक दूसरे की मदद की ये कि तुम उनसे दोस्ती करो और जो उनसे दोस्ती करें तो वही लोग जालिम हैं